सुरनाथ म्यूज़िक एकेडमी की ओर से सतगुरु जगजीत सिंह जी महाराज के चौरासीवें जन्मदिन पर आप सबका स्वागत है वेलकम सतगुरु जी जगजीत सिंह जी महाराज को आज जन्मदिन की बधाई दें और इतनी ज़ोर से बधाई दें कि आपकी तालियों की गूंज भैनी साहब तक सुनाई दे ये कार्यक्रम सुरनाथ एकेडमी की ओर से पेश किया जा रहा है सुरनाद के कर्ता दर्त हैं सरदार गुरुदेव सिंह जी बहुत बड़े कलाकार हैं उस्ताद अमजद अली खां के शागिर्द हैं आप जानते हैं बहुत अच्छा सरूद बजाते हैं मैं समझता हूँ कि नामधारी संगत की ये बहुत बड़ी देन है कि संगीत के लिए उन्होंने इतना बड़ा काम किया है बहुत बड़े बड़े उस्तादों से भैनी साहब में मैंने देखा है बहुत बड़े बड़े उस्ताद बच्चों को वहाँ सिखाते हैं ये दरअसल ये परंपरा जो चली आ रही है गुरबाणी की परंपरा है क्योंकि गुरबाणी में सारा शब्दों का आधार संगीत है इकतीस रागों के आधार पर गुरबाणी लिखी गई है छः गुरुओं और पंद्रह सूफी संत कवियों के शब्द हैं उसमें लेकिन सबका आधार जो है संगीत है तो मैं ये समझता हूँ कि ये सबसे बड़ी देन है नामधारी संगत की जो संगीत का इतना प्रचार कर रहे हैं इसका नमूना आपके सामने ये बच्चे आपके सामने पहली आइटम पेश करेंगे सुरनाज अकेडमी के और ये पेश करेंगे राग तिलक का मोद वक्त का राग है वक्त का इसलिए कि यहाँ साढ़े तीन बजे अंधेरा हो जाता है शाम का राग है दिलरुबा पर जो हैं कलाकार वो हैं बेअंत सिंह जी प्रीति और रतन सिंह जी रंधावा मान सिंह मान कौर जसमीत सिंह और उदय सिंह सितार पर है सुजान कौर ज्ञान सिंह और वायलिन पर हरनाम कौर तबले पे संगत करेंगे Chiranjeev Singh so ladies gentleman welcome the peoples of Surnath academy presenting before you raag Tilak का मोदी